राज्य में जो अवशेष जो स्वामी की धन संपत्ति रखी थी ब्राह्मणों ने लाभार्थ को दे दिया और दे करके अपने स्वर्ग को चले गए नावाज वो सब स्वामी जी को तो एकत्रित करके अपने घर लाना चाहता था उतने तो भगवान शंकर पहुंच गए और कहे बच्चे क्या कर रहे हैं कि तो महाराज ये सब हमने इकट्ठा कर रहे हैं तो उन्होंने ये तो यज्ञ का बचा हुआ शेष हमारा होता निरंतर द्रव्यम पुत्रम पक्ष बोले तो ऋषि लोग को दे रहे तू हमको विवाद मत कर भगवान रुद्र बोले हमसे विवाद करता तो तू अपने पिता से जाकर के पूछ ये चेष्टा करेंगे नाभाव आया अपने पिता के पास पूछने तो पिताजी तो ब्राह्मण लोग देख गए गए हमको सर्वत्र भगवान कहते हैं कि ये तो हमारा भाग है पर उसके पिता ने कहा हाँ बेटा बात तो यही है ये बात निश्चय हो चुकी है तो यज्ञ और श्रेष्ठ जो है तो रुद्र का विधान होता है सही रखत तो उन्हीं का भाग है ठीक है नाराज ने आपको कह दिया कि हमारे पिता ने तो ये बात कही है कि आपका ये शक्ति को ले जा और हम तुम तेरे को आत्मज्ञान का उपदेश करते हैं मतदत्तम विभिन्न चित्रण बस वो जो बची हुई धन संपत्ति थी वो नागाप को देती और आत्मज्ञान का उपदेश करके भगवान को प्रवासन कर रहा थे क्या नाम यह इस आख्यान का जो स्मरण करता है उन लाभार्थ के जो पुत्र थे उनका नाम था अम्बरीश जिनको दुर्गा जी का शाप भी स्पर्श नहीं किया साथ में भी अम्बरीश महाराज भगवान के बड़े भक्त थे तो सप्तक बीस जो गुरु था पूर्व सम्राट थे इंसान दुर्लभम तत्सर्वम स्वप्नगत मत है अन्य व्यक्तियों के लिए दुर्लभ जो व्यक्ति हैं उनके यहां सब उपस्थित थे पर उनको स्वर्ग मिथ्या समझते थे सदैव मन कृष्ण कदा अरविंद रचान तुम वर्ण में वो अपने मन से भगवान के चरणों का चिंतन करते रहते थे वाणी से भगवान के गुणगान करते थे अपने हाथों से मंदिरों की बुहारी लगाते थे सेवा करते थे अपने कानों से भगवान की मंगलमय कथा सुनते थे नेत्रों से भगवान की मंगलमय मूर्तियों का दर्शन करते थे रात रास्ता स्पर्शन संगमम और भगवान के भक्त का स्पर्श करते थे जो भगवान का भक्त है उसका स्पर्श करके दूसरे का स्पर्श ही नहीं करते उनके यहाँ अछूत कौन था तो जो भगवान का वक्त नहीं है वो अछूत उसे नहीं छुआ ब्राह्मण जगत्ता जगवे भगवान के चरणों पर शरीर तुलसी का गंध सुनते थे रतनाम पदर्थ थे भगवान के तो जो भोग लगाया है उसी को जीवते थे उसी को भोग उसी को खाते थे बिना भोग लगी हुई वस्तु आया नहीं करते थे कैरों से भगवान के जो तीर्थ हैं स्नान कराने वाले मतलब स्नान कराने वाले तीर्थ में ढूंढते थे और फिर उनका भगवान के चरणों में झुका रहता भगवान को जो व्यक्ति अर्पण करते थे इसलिए नहीं कि ये व्यक्ति हमको फिर मिलेंगे इसलिए भगवान को समापन करते थे कि इससे हमें भगवान की भक्ति और प्रेम मिले भगवान के बड़े भक्त थे ये महाराज पृथ्वी का शासन करते थे ब्राह्मणों से पूछते थे धर्मशास्त्र के अनुसार वशिष्ठ असित गौतम आदि जो है इन ऋषियों की सेवा करते थे यश प्रजा उत्तम श्लोक दर्शन श्रीवंत उस समय उनकी प्रजा में सब भगवान के चरित्र सुन करके मस्त रहते थे स्वर्ग की भी इच्छा नहीं करते थे कैसे मनुष्य महाराज का वो शासन काल था भगवान ने प्रसन्न होकर के उनको सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में छोड़ दिया कि तुम पर कोई आपत्ति आएगी तो ये रक्षा करें एक बार अंदर महाराज ने द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत किया एक वर्ष तक और वो व्रत जब पूरा हुआ तो यमुना में स्नान करके उपवास करके मधुबन में भगवान का पूजन किया केशवम संपूज्य भक्त को ब्राह्मण से संपूज्य ब्राह्मणों का पूजन किया देव्यो देवेशु स्वर संग्राम बाप को ब्राह्मणों के लिए गंगों का काम किया उन गंगों के सिंह स्वर्ण में मरे हुए थे उनके खोट चांदी में मरे हुए थे ऐसे गंगों का काम किया ब्राह्मणों को भोजन किया कराया द्वापसी के दिन और ब्राह्मणों की आज्ञा से स्वयं जब तारण करने की तारणा करने के लिए तैयार हुए उसी समय वहां दुर्गा जी पहुंच गए अतिथि प्राप्त है राजा ने कहा महाराज का भोजन का समय भोजन किए दुर्गा जी बोले अभी स्नान करके आते हैं भोजन करेंगे और स्नान करने के लिए गए उन्होंने और जाकर के गोता लगा करके वो ब्रह्म जाए गायत्री का जब कर पढ़ने विनम्र और यही जानने का थोड़ा दादा को चला आया तो दादा जी का जब करने लगे जन्म ग्रह और पारण प्रति मोहता मुहूर्त अर्धार पुष्पायाम द्वारस चरण और द्वार की थोड़ी ही बाकी रखी तो अम्बरीश महाराज संगति में कहे कि ओवर तो हमने ऋषि को निमंत्रण दे दिया बिना उनको जिमाए या जीव कर दिले कारण कैसे करेंगे और कारण नहीं करते तो एक वर्ष का धर्म नियम का पालन किया है तो के दिन कारण क्या करना चाहिए तो उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और कहा कि महाराज के समय ये धर्म संकट है आप लोग बताएंगे इस समय यदि आप लोगों की आज्ञा हो तो हम जल पी करके पान कर जो निर्जल व्रत किया जाता है उसकी उसकी जल पीने से उसकी पाना हो जाती है जल खाया हुआ भी माना जाता है न खाया हुआ भी माना ब्राह्मणों ने कहा बिल्कुल ठीक बात इसमें क्या आप जल पी करके पारण कर लीजिए व्रत की पारण हो जाएगी बस उन्हीं ब्राह्मणों की आज्ञा से अम्बरीश महाराज ने तो जल पी लिया जल पी करके और दुर्गाता जी की प्रतीक्षा कर ली और दुर्गाता जी जब आए और तो आकर के देखा कि उसके तो पहले वो सूच रहे थे वो सूख रहा था तो चेतन है उन्होंने ध्यान करके देखा है उसने जल पी लिया बस क्रोध में भर गए चलक बात को वृक्ष का शतांजलि जगह प्रशांत जले निलकम राजा हाथों के सहाय भिक्षा कीजिए अरे तू बहुत अभिमानी है पहले हमारा प्रकाश की ओर चली गई हम लोग निर्भर होकर खड़े थे उन्हें कोई बहन नहीं वो जहां खड़े हो खड़े भगवान ने तो उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ रखा था सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और प्रत्याम बद्धा वो जो प्रत्यापन की थी वो सुदर्शन चक्र के तेज से दर्द हो गई भस्म हो गई और सुदर्शन चक्र दुर्गा आदि के पीछे पड़े योगाचार्य ने देखा तो मेरा जब व्यस्त में है तो व्यक्त गया और प्राणों की रक्षा के लिए दुर्वाचार्य दौड़े यहां से सुदर्शन चक्र उनके पीछे तो पहले तो घूमते से पर्वतों की गुफा में जो घुसते हैं तो वहां भी सुदर्शन चक्र समुद्र में जाकर गोता लगाते हैं तो वहां भी सुदर्शन चक्र पीछा करते हैं तो सुदर्शन दर्शन जहां जहां दुर्भाग्य सुदर्शन चक्र ब्रह्मलोक में पहुंचे और ब्रह्मा जी की शरण में गए हे ब्राह्मण ये सुदर्शन चक्र से आप मेरी रक्षा करें ब्रह्मा जी बोले हमारी सामर्थ्य है कि हम सुदर्शन चक्र से तुम्हारी रक्षा कर सकते हमारी सामर्थ्य के बाहर के भक्त के देशी हो तुम हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते शिवम शरणम में भगवान शंकर की शरण में गए कहा महाराज मेरी रक्षा करो भगवान शंकर ने कहा बेटा ये भगवान विष्णु का सत्य है सुदर्शन चक्र हम इससे तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते ईश्वर से शस्त्र लोग दुष्ट है तो इसलिए जाओ भगवान विष्णु की शरण अपमान किया है जिसका अपराध किया है उसी के पास जाओ वही तुम्हें क्षमा करेगा जब दुर्वासा जी से ये कहा तो दुर्वासा जी वो अम्बरीश के पास आए और अम्बरीश के पास आकर के और दुखी होकर के सुदर्शन चक्र से जब प्रतापित अम्बरीशन प्राप्त है तब तारो जगह अम्बरीश के पास आकर के अम्बरीश के पैर पकड़ लिए दो अरे भाई हमारी रक्षा कर तो सुरासन चक्र से हम बहुत पीड़ित थे और अम्बरीश महाराज बड़े संतुष्ट हुए बड़े लज्जित हुए थे ऋषि एक ऋषि महात्मा जिनको हम पूछते हैं वो हमारे चरण सफल राजा जो है अम्बरीश महाराज जो है सुदर्शन चक्र की स्तुति करने लगे सुदर्शन उद्यम सहस्रा सहस्रात्मक प्रिय सदास्त्रधातुन मित्राय स्वस्थ भूया वस्पते सुदर्शन देव हम आपको नमस्कार करते हैं और उन ब्राह्मण देवता के लिए तुम शांत हो जाओ मन के समान आपका वेग है आपकी कौन स्तुति कर सकता है आपके तेज के सामने सूर्य आदतों का तेज फीका पड़ रहा है यह हम लोग ब्राह्मणों के भक्त हैं हमारे कुल में ब्राह्मण और देवताओं के समान पूजे जाते हैं तो और तुम उस ब्राह्मण के प्रति शांत हो जाओ यदि मया स्तंभा दत्तम्बा दुर्गम कुलम से अयम विजो दत्ता पूर्व मैंने जो पूर्ण किए हैं उसके बदले गए चाहताओं की ब्राह्मण का जो है साफ निवृत्त हो जाए जब इस तरह से प्रार्थना की तो सुदर्शन चक्र जो है शांत हो गया अब तो दुर्गा का बोले ओ मैंने भगवान के भक्तों की महिमा देख ली मैंने तो कैसा <clears throat> अपराध किया इसके मारने के लिए कृत्यावर्तन की और ये मेरा दुख चल रहा हे राजन तेरा मनोपरी प्रसादक है दुर्गा का जी कहने लगे तुमने मेरे ऊपर कृपा की है मेरे अपराध की ओर दृष्टि न डाल करके मेरे प्राण की रक्षा की तब तो अमरीश महाराज बोले अब आप जो बात हुई से तो हुई महाराज अब भोजन तो आप कीजिए तो दुर्गा जी को तो उन्होंने भोजन करना भोज्य काम इंद्र तो पर दर्शन स्पर्श भाषण पीतों से तुम्हारी प्रीति स्वर्ग तक व्याप्त होगी ऐसा कहकर के भोजन करके दुर्गा जी लोग को चले जब तक ये दुर्गा जी ऐसे घूमते रहे हम एक वर्ष लग गया पूरा वहां गए वहां गए वहां गए वहां गए तब तक अम्बरीश जो है जल पी करके गए भोजन नहीं किया तब दर्शनाकांक्षी राजा जल भक्षु बहुजो एक माफ करने या तीर्थ ये पूर्ण है जो रहे है इसको जो वर्णन करता है श्रवण करता है हाँ? भगवान की भक्ति इसके हृदय में प्रकट होती है संतुष्ट यज्ञ कराने लगे तो यज्ञशाला में घरों में जल भरा हुआ रखा रहता है तो राजा को रात्रि को प्यास लगी तो वो अगमन अगमन जो जल था मंत्रतम जलम पत्नी जीवन से वो जल जो है उसकी रानी को जाना चाहिए जाना जाना था ब्राह्मणों को रात्रि को तो राजा को प्यास लगी तो वो बिना पूछे ही यज्ञशाला में चला गया और जल को उसने स्वयं पी लिया कहा सकता ऋषि लोगों ने देखा यज्ञशाला में तो देखा उस घरे में चले गए है तो पूछा अरे भाई इस घरे में से जल किसने पिया है तो कोई बता रहे नहीं पर राजा ने कहा महाराज हमको बड़ी प्यास लगी थी ये जल तो हमने पी लिया तथो राज्ञा पीतल व्याप्ता हो गई बल में मुख्यम बल ब्राह्मण लोग कहने रहे कि ये प्रार भगवान को क्या अच्छा है दैव का बल ही मुख्य बल माना जाता है और कहा राजन ये तो तुम्हारी पत्नी को देने के लिए जल था तुम स्वयं पी और तो तुम, तुमको ही इस बच्चे को धारण करना पड़ेगा तुम्हारे गर्भ में बालक हो तो जब समय आया काले प्राप्त थे तब तो बच्चा योगनाश जो थे अपने पिता उसकी दक्षिणी दाणी को फाड़ करके और बाहर बालक बाहर आ गया अयम तुम्हारा घास से भी अब ये बात हुई ये दूध किसका है ब्राह्मण ने जब ये कहा तो इंद्र ने आ करके उस बच्चे के मुंह में अपनी उंगली दे दी माम भाका अरे ये मेरा दूध है जमी से उसका नाम हो गया माम भापा मारोदी त्रिपुवन तन्मुखे तर्जनी जरूरी बच्चे शिकारे गए मत वे इंद्रजा ने तर्जनी उंगली उसके मुंह में तो उसका नाम ही हो गया मानदार मोहनदाता बड़े प्रतापी राजा हुए बड़े उन्होंने यज्ञ किए भगवान के यज्ञों के द्वारा भगवान का यज्ञ किया और मानदाता के जो है शशबिंदु नाम की कन्या ने एक अम्बरीश मुस्कुंद के तीन पुत्र हुए और पचास कन्या के गुरु थे तीन लड़के थे पचास कन्या और पचासों कन्या सौहरी इसी को ब्याही है से यमुना में गोता लगा करके तप करते थे उनको विवाह करने की इच्छा हुई शरीर हो गया वृद्ध तो वो उन्होंने कहा अब हमको तो कौन कन्या देगा चलो राजा के पास थे तो मानदाता के पास आए उन्होंने <clears throat> सवर्ण ऋषि का पूजन किया स्वागत किया महाराज कैसे पधारे कि हमारे लिए विवाह करने की इच्छा एक कन्या हमको दे दो तुम्हारे पचास कन्या और राजा ने सोचा कि मैं जिस कन्या को दूंगा तो वही दुखी होगी तो पिता ने हमको कैसे वृद्ध पुरुष के लिए हमको विवाह कर दी राजा ने कहा अब बोला हम ना करते हैं तो ये हिसाब दे देंगे तो ये कहा महाराज हमारे यहां स्वयं लड़कियां जो लड़की आपके पास जाना चाहे चले जाए तो वो समझ गए गौरव जी कहता अरे हम ब्रह्मा हम प्रमाण खिला मुझे बुद्धा देख करके मेरा सिर कांप रहा है मुझे बुद्ध समझ करके और इसने ऐसा कहा है